पश्यति य इह पश्यति अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्य न तथो विजुगुप्सते एतद्वै तत् अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो ज्योतिरिवाभूमकः ईशानो भूतभव्यस्य स एवाद्यसौ श्वः एतद्वै तत् अगेकत्व विज्ञात आचार्यागम संस्कृत मनसा इदम ब्रह्म एक रसम आपतव्यम आत्मैव नान्यदस्थिति प्राग एकत्व विज्ञानात् जब तक एकता का विज्ञान न हो ये विज्ञान शब्द का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना वस्तु अनुसारी ज्ञान हो तो जब तक वस्तुनिष्ठ ज्ञान न हो जाए जब तक वस्तु तंत्र ज्ञान न हो जाए तब तक उसकी खोज करनी चाहिए उसका अनुसंधान करना चाहिए क्योंकि मनुष्य को सत्य से विमुख करने वाले अनेक कारण हैं जब गुस्सा आता है तब मन में यही आता है कि दुश्मन को मारना उसको गाली देना उसका अपमान करना और जब काम आता है तो यही होता है कि भोग करना जब लोभ आता है तो धन कमाना मोह आता है तो कुटुंब का भरण पोषण करना और जब उदारता आती है तो तब दान ही करना और दुखी को देख करके दया आती है बोले दया ही दया का दया करना किसी के मन में दया आ जाए ना कोई एक डॉक्टर हो दयालु हो एक कोढ़ी को देख करके आवे एक दमा के रोगी को देख के आवे तो हमको फटकार देगा आके तुरंत यहाँ कहेगा तुम बैठ के सिंहासन पर वेदांत सुना रहे हो और इतने कूढ़ी और इतने दमा वाले और इतने जक्षमा वाले दुखी हो रहे हैं है? और तुमको दया नहीं आती उनकी सेवा नहीं करते यहाँ आके बकवाद करते हो ऐसे बोलेगा हो क्योंकि उस समय वो उसी भाव से आक्रांत होगा अब एक परिवार में फंसा हुआ आदमी हो वो डांटेगा आके है ना परिवार छोड़ के बड़े बाबा जी बने हो खुद तो हंसी कर रहे हो और घर के लोग भूखे मर रहे हैं है ना वो डांटेगा इसी तरह जो लोग अपने संप्रदाय में बंधे हैं अपने पंथ में बंधे हैं अपने मत में बंधे हैं अपनी समाज सेवा में बंधे हैं वो तो यही कहेंगे ना कि जो काम हम कर रहे हैं वो सबसे बढ़िया है उसी में तुम भी लग जाओ अब आजकल मान लो कोई उम्मीदवार मिल जाए है ना तो यही कहेगा कि तुम हमारे लिए कन्वासिंग करो हैं यही न कहेगा बोलेगा आज का सबसे महत्वपूर्ण काम यही है अच्छा महाराज कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको सपने आते हैं ना सपने और देखो जिस समय सपना आता है उस समय बिल्कुल सच्चा मालूम पड़ता है लेकिन हमारा कोई चेला या कोई चेली आके जब हमको बताता है कि हमको ये सपना आया है और हम उसके अनुसार अब चलेंगे तो हम तो अपना सिर ही पीटते हैं यदि हाथ से गया <laughs> कैसे कि देखो अनादिकाल से अब तक कितने संस्कार मन में भरे हुए हैं कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं कभी अच्छे संस्कारों से सपना आ जाता है कभी बुरे संस्कारों से सपना आ जाता है अब ये आज तो इसको अच्छा सपना आया है उसके अनुसार चलेगा कि चलो ठाकुर जी की पूजा करो हैं? और कल सपना आएगा कि ये सब साधु बेईमान होते हैं इनका दर्शन नहीं करना चाहिए हैं? तो आज सपने के अनुसार चलता है तो कल भी सपने के अनुसार चलेगा क्योंकि ये तो अनियंत्रित मन में स्वप्न आते हैं स्वप्न जितने स्वप्न के जितने दृश्य आते हैं वो कोई नियंत्रित मन में तो आते नहीं है वो कोई गुरु आचार्य के संस्कार से आते हो सो बात तो है नहीं है ना देवता दानव भी तो मन के ही बनाए हुए होते हैं और तो मन के ही पेट में होते हैं तो संसार में सत्य को समझने की कोई यात्रा निर्विघ्न पूरा कर सके तो ये बड़ा मुश्किल है कोई अपने व्यक्तित्व में बंधा है तो कोई परिवार में बंधा है तो कोई जाति में बंधा है तो कोई समाज में बंधा है, है? कोई वर्तमान संस्कृति में बंधा है कोई भूत की संस्कृति की याद करके रो रहा है हैं? कोई भविष्य में संस्कृति का निर्माण करना चाहता है कोई सनातन धर्म को श्रेष्ठ समझता है कोई सामाजिक धर्म को श्रेष्ठ समझता है तो ऐसे लोगों की जो अपनी अपनी समझ है वो किसी न किसी कार्य कारण से आबद्ध रहती है तो कार्य कारण से आबद्ध रहने के कारण सत्य समझने की इच्छा ही नहीं होती है मनुष्य अपने अपने बंधन में से अपने बंधन में से घेरे में से निकलना नहीं चाहता है वो तो जब विचार करोगे तब मालूम पड़ेगा कि ये जो संबिन मात्र आत्मा है इसका किसी कार्य कारण के साथ संबंध हो ही नहीं सकता है संबिन मात्र जो वस्तु होती है जिसको दृष्टा बोलते हैं पंचदशी के प्रारंभ के दस श्लोकों में जिस संबित का निरूपण है संबित का है ना अरे कल आया और चला गया आज आया और जा रहा है और कल भी आवेगा और चला जाएगा और आत्मा ज्यो का त्यों बचपन आया गया जवानी आई और चली गई बुढ़ापा आ रहा है और ये भी जाएगा है ना जन्म भी आया मरण भी आया रिश्तेदार नातेदार भी आए गए रात और दिन आए गए हैं पूरब पश्चिम आए गए तो मलबार हिल पर पूरब पश्चिम कुछ और है यहाँ पूरब पश्चिम कुछ और है तो अब देखो मलबार हिल पर थे ना हम तो यहाँ से पूरब थे हैं यहाँ से पश्चिम थे और अब यहाँ आ गए तो मलाबार हिल से हम हम पश्चिम हो गए तो हम पूरब हो गए देखो क्या उल्टा जो पूरब होता है वो पश्चिम हो जाता है जो पश्चिम होता है वो पूरब हो जाता है है ना जो ऊपर होता है वो नीचे हो जाता है सड़क पर से तो नीचे से अब यहाँ आए तो ऊपर हो गए तो ये ऊपर नीचे बदलता रहता है लेकिन स्तंभित नहीं बदलती है आजकल बदलता है लेकिन संबित ज्ञान नहीं बदलता है वो ऊपर नीचे नहीं होता वो पूरा पश्चिम नहीं होता है ना वो बच्चा जवान नहीं होता वो जो संबिन मात्र जो दृष्टा वस्तु है उसका कार्य कारण के साथ क्या संबंध है बोले जब तक अज्ञान है तब तक संबंध है और अज्ञान मिट गया तो संबंध मिट गया बोले हे भगवान जब अज्ञान है तब क्या संबंध है तो तब अनिर्वचनीय संबंध है माने दुर्निरूप्य है है ना हाँ। संबंध मात्र की दृष्टि से देखो तो संबंध नहीं है और व्यवहार की दृष्टि से देखो तो सारे ही संबंध जुड़ते हैं तो अज्ञान काल में व्यवहार की दृष्टि से संबंध है और विवेक की दृष्टि से संबंध सिद्ध नहीं होता तो अनिर्वचनीय संबंध है और तत्व ज्ञान की दृष्टि से दूसरा कोई पदार्थ ही नहीं है तो संबंध कहाँ से होगा तो ये जो कार्य कारण के साथ अपना संबंध है हमने ये किया तो ये पाया ये किया तो ये पाया है ना और ये पा रहे हैं तो ये किया है ये जो कार्य को देख करके कारण का अनुमान कर रहे हैं और कारण बना करके कार्य प्राप्ति की आशा कर रहे हैं ये सब सम्मिल मात्र की दृष्टि से असंबद्ध है इसकी कोई संगति कोई संगति नहीं है तो जैसे कार्य और कारण का संबंध जो है वो अनिर्वचनीय है सम्मिल मात्र के साथ वैसे ही ज्ञाता और ज्ञेय का संबंध भी सम्मिल मात्र के साथ अनिर्वचनीय है वो तो बिना कोई करण का संबंध हुए ज्ञाता और ज्ञेय बनेगा ही नहीं तो सम्मिल मात्र में ज्ञाता और ज्ञेय भी नहीं है संबंध अनिर्वचनीय है अज्ञान काल में भोक्ता और भोग की भी यही दशा है तो जब विवेक करते हैं साधक के लिए जिज्ञासु के लिए ये विवेक करना बहुत जरूरी है कि मैं कौन हूँ अब साधन ही छोड़ दो जब करना छोड़ दो तो ध्यान बनने बने रहना मुश्किल है हो ध्यान बनाए रखने के लिए जप की आवश्यकता होती है और अलगाव बनाए रखने के लिए कार्य कारण के साथ विवेक की आवश्यकता होती है यदि तुम्हें सच्ची वस्तु को प्राप्त करना है तो विवेक को जागृत करना पड़ेगा साधन छोड़ करके साध्य की प्राप्ति नहीं होती है साधन और साध्य दोनों कक्षा में अपने साथ रहते हैं विवेक नहीं करोगे तो विवेक के आश्रय और विषय का ज्ञान कहां से होगा तो आओ जब तक ये साक्षात अनुभव नहीं हो गया कि अपना आत्मी परिपूर्ण अविनाशी अद्वितीय है ये बात आप निश्चय कर लो गांठ गठिया लो अपनी डायरी में नोट कर लो और दिल की डायरी में नोट कर लो दिमाग में नोट कर लो इस बात को कि जब तुम्हें यथार्थ का ज्ञान होगा तो तुम्हारी बुद्धि में ये उल्लेख होगा कि मैं और यथार्थ सत्य ये दोनों दो चीज नहीं है जुदा जुदा नहीं है यदि यथार्थ सत्य तुम्हारी आत्मा से जुदा रहेगा तो या तो दृश्य होगा घड़े की तरफ और या तो कल्पित होगा स्वर्ग की तरफ है तो जब तक ये यथार्थ सत्य तुम्हारी आत्मा से अभिन्न होकर जब तक अनुभूत नहीं होता तब तक विवेक का जो पंथा है उसका परित्याग नहीं करना तब तो साधन छोड़ ले जब पहले शादी पहले है ना प्राग एकत्व विज्ञानार्थ एकत्व का विज्ञान होने के पहले यदि तुमने यथार्थ सत्य को जाना कि ऐसा है तो गलत जाना यदि तुमने यथार्थ सत्य के बारे में जाना कि वैसा है तो, तो भी गलत जाना वो ऐसा भी नहीं है और वैसा भी नहीं है तब कैसा है तो अरे कैसा वैसा कैसा नहीं भाई जो तुम हो वही यथार्थ सत्य है जो तुम जो तुमसे जुदा है वो या तो कल्पित है या तो दृश्य है वो चाहे निराकार हो निर्गुण हो निर्विशेष हो है ना चाहे अद्वितीय होए चाहे अविनाशी होए चाहे परिपूर्ण होए लेकिन तुमसे जुदा है तो न वो असली परिपूर्ण है न असली अविनाशी है न असली अद्वितीय है क्योंकि तुम ही उसको सद्वितीय बनाए रहे हो तुम्हारी उपस्थिति से ही वो द्वैत वाला बन रहा है तो यथार्थ सत्य के अनुभव की जो प्रणाली है यथार्थ सत्य के अनुभव की जो प्रणाली है वो ये है कि यदि तुम ये तो समझते हो कि मैं संबित हूँ मैं साक्षी हूँ मैं दृष्टा हूँ है ना लेकिन अपने को अद्वितीय नहीं समझते तब तुम अपने आप को ठीक नहीं समझते और तुम ये तो समझते हो कि परमार्थ अद्वितीय है लेकिन उसको अपने से अभिन्न नहीं समझते तो, तो भी अद्वितीय को ठीक नहीं समझते अपने से अभिन्न नहीं होगा तो वो अद्वितीय ही नहीं होगा वो चैतन्य ही नहीं होगा वो ज्ञान स्वरूप ही नहीं होगा अपने से अभिन्न न होकर के तो परमात्मा मूर्छित हो जाएगा बेहोश हो जाएगा जड़ हो जाएगा हाँ अगर हमसे एक न हो तो परमात्मा मूर्छित बेहोश होके गिर पड़ेगा होश में हमसे एक हुए बिना परमात्मा है हमसे एक हुए बिना परमात्मा होश में रह ही नहीं सकता बेहोश है और परमात्मा यदि परमात्मा से यदि हम एक नहीं होंगे तो क्या होगा का हम एक जुज बने रहेंगे एक खंड बने रहेंगे एक टुकड़े बने रहेंगे एक कटे पीटे बने रहेंगे परमात्मा से एक हुए बिना हम तो एक टुकड़े हैं और हमसे एक हुए बिना परमात्मा बेहोश है मूर्छित है जड़ है तो इसलिए जब यथार्थ सत्य की प्राप्ति होगी तो तुम्हारी बुद्धि में एक बार ये उल्लेख होना आवश्यक है कि जो आत्मा सो अद्वितीय ब्रह्म जो अद्वितीय ब्रह्म सो आत्मा और इस बात को प्राप्त करने के लिए जैसे जड़ पदार्थ की खोज होती है वैसे खोज नहीं होगी जड़ पदार्थ की खोज में दूरबीन खुरदबीन लेकर के खोज करने में या प्रयोगशाला में रसायनशाला में खोज करने में जड़ वस्तु की जैसे खोज की जाती है वैसे ईश्वर की खोज नहीं की जाएगी ईश्वर की खोज करने के लिए विचित्र प्रणाली है क्योंकि चैतन्य के खोज की प्रणाली जुदा और जड़ की खोज की प्रणाली जुदा तो जैसे प्रयोगशाला में है ना ये मेढक चीर के जदि चैतन्य ढूंढोगे कि इसमें चेतना कहाँ छिपी हुई है, हैं? तो चीरी हुई मछली में या चीरे हुए मेढक में हैं? या बंदर के कलेजे का ऑपरेशन करके यदि उसमें से चैतन्य निकालना चाहोगे हैं, तो उसमें से वो चैतन्य रस नहीं निकलेगा चैतन्य रस के अनुभव की प्रणाली है कि वो अहमर्थ के भीतर होकर भागता है अपने अहमर्थ के भीतर रहकर अहमर्थ को प्रकाशित करता है ये चैतन्य की ये चैतन्य की प्रणाली है तो देखो विज्ञान साध्य न होने के कारण विज्ञान का विषय न होने के कारण ज्ञान का विषय न होने के कारण स्वयं अपना स्वरूप होने के कारण और इसकी प्राप्ति की प्रणाली निराली है मन से ही वेदम आपतव्यम तो कई वेदांतियों को शुरू शुरू में ये भ्रम हो जाता है कि चूंकि ब्रह्म सत्य है अद्वितीयता सत्य है है ना प्रत्येगात्मता सत्य है इसलिए हम अपनी बुद्धि से उसको ढूंढ निकालेंगे ये भ्रम हो जाता है वो बोले तो हम विवेक से ढूंढ निकालेंगे है ना हम बुद्धि से ढूंढ निकालेंगे हम युक्ति से ढूंढ निकालेंगे हम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान से ढूंढ निकालेंगे है ना नहीं तो एक ऐसा साधु पकड़ ले आवेंगे कहीं से जो हमारे सिर पर हाथ रखेगा और हमको है ना ये लोग साधु नहीं पकड़ना चाहते हैं बंदर पकड़ना चाहते हैं बोला तो हाँ तो साधु इनके पकड़े नहीं मिलेगा बंदर मिलेगा क्योंकि साधु तो ब्रह्म से एक होता है उसका काम पकड़ के तुम अपना काम थोड़ी करवा सकते हो <clears throat> तो तो बोले कि नहीं कोई भूत प्रेत देवता आके प्रकट होगा और वो हमको ब्रह्म ज्ञान दे जाएगा अरे भूत प्रेत को तो तुमने अपने मन से बनाया और उसकी जितनी जानकारी है वो तुम्हारे मन की जो जानकारी है वही जाके भूत प्रेत में बैठी है तो वो भूत प्रेत देवता दानी कोई ज्ञान नहीं दे सकता जो ईश्वर तुम्हारी आंख के सामने आके खड़ा होगा या जो ईश्वर तुम्हारे मन के सामने आके खड़ा होगा उसका जितना ज्ञान होगा उस ईश्वर के भीतर वो सारा ज्ञान तुम्हारे मन के द्वारा उसमें आरोपित होगा इसलिए तुम्हारे मन से अलग का कोई ज्ञान वो तुमको नहीं दे सकता जितना तुम जानते हो है ना वही जैसे तुम्हारे किसी सपने को कोई पुष्ट कर दे कि हाँ बहुत बढ़िया वो इसे वो आ करके तुम्हारे स्वप्न को पुष्ट कर जाएगा और स्वप्न को पुष्ट करना यथार्थ की उपलब्धि यथार्थ का साक्षात्कार नहीं है तो बोले कहाँ से मिलेगा अब देखो मिलने का ढंग बताते हैं तो असल में परमात्मा की या यथार्थ की या परमार्थ की या सत्य की प्राप्ति में बाधा इतनी है कि हमारे मन में अयथार्थ की असत्य की अपरमार्थ की परिच्छिन्न की द्वैत की जड़ की अनात्मा की अनविचारी बिना विवेक के ही हजारों प्रकार की कल्पनाएं हजारों आदमी के हृदय में हजारों प्रकार की कल्पनाएं भर गई हैं उनको निर्वारना पड़ेगा और जैसे जल पर काई आ गई हो तो दोनों हाथ लगा के उसको हटाना पड़ता है वैसे तुम्हारे शुद्ध ज्ञान स्वरूप में जो काई विषय की काई दृश्य की काई अनात्म प्रपंच की जो काई आकर के लग गई है उसको हटाना पड़ेगा तो उसको हम कैसे हटावेंगे बोले हम बुद्धि से यथार्थ का ज्ञान प्राप्त करेंगे और विवेक से यथार्थ का ज्ञान प्राप्त करेंगे अरे हटाओ गुरु को कौन गुरुडम के चक्कर में फंसे हटाओ शास्त्र को पोथी को हम अपनी बुद्धि को संस्कार शून्य बना करके और उससे उससे परमात्मा को जानेंगे ये शुद्ध अपना चित्त हम शुद्ध करेंगे शुद्ध करेंगे और संस्कार रहे चित्त से हम परमात्मा को जानेंगे आपको देखो हम बड़े अनुभव की बात आपको सुना रहे हैं बोला इसको हंसी खेल में नहीं उड़ाना बोला चित्त संस्कार शून्य होता ही नहीं है ये जो लोगों की कल्पना है कि हमारा चित्त सब प्रकार के संस्कारों से मुक्त होकर के सत्य का अनुभव कर रहा है वो बिल्कुल गलती में है ये चित्त का बीज जो है वो अनादि है और अनादि संस्कार से संस्कृत होने के कारण जैसे अंगूर में मिठास होती है जैसे इमली में खटास होती है जैसे सुपारी में कसैलापन होता है वैसे सबके चित्त में कुछ न कुछ संस्कार पहले से विद्यमान होते हैं यदि तुम कायदे से परमात्मा को ढूंढने के लिए नहीं चलोगे तो वे ही संस्कार तुम्हारी बुद्धि और विवेक पर हावी हो जाएंगे उनको काबू में कर लेंगे है, उनको अभिभूत कर देंगे आक्रांत कर देंगे और तुम अपने संस्कार की सुगर लपेट करके तब परमात्मा को मीठा बनाओगे तुम्हारे चित्त में बैठे हुए जो संस्कार हैं वो संस्कार परमात्मा के दर्शन में आड़े आवेंगे बीच में आ जाएंगे तब तुम शुद्ध परमात्मा का दर्शन नहीं करोगे अपने संस्कार से आक्रांत परमात्मा का दर्शन करोगे तब परमात्मा घोड़े की शक्ल में है ये भी तुमको कभी मालूम पड़ सकता है ग्रीव है हाँ, लेकिन एक मुसलमान को तो है ग्रीव का घोड़े के रूप में परमात्मा का दर्शन होना मुश्किल है हैं? तब मछली के रूप में है कछुआ के रूप में है बराह के रूप में है नृसिंह के रूप में है है ना स्त्री पुरुष के रूप में है चतुर्भुज है लाल है काला है पीला है निराकार है है ना निराकार है साकार है निर्गुण है ये जो तुम्हारी बुद्धि में जो संस्कार बैठे हुए हैं उस संस्कार को तुम परमार्थ के ऊपर यथार्थ के ऊपर लपेट के उसको देखोगे और कहोगे ये परमात्मा है ये शांत जो है ये परमात्मा है कोई तुम्हारी बुद्धि में बैठा देगा कि जो परमात्मा तो शांत होता है तो तुम कहोगे कि आहा बड़ी शांति ये परमात्मा मिल गया शांति क्या मिली परमात्मा मिल गई कोई कहेगा विक्षेप की निवृत्ति परमात्मा है तो बोले इतनी देर समाधि रही मिल गया परमात्मा बोले कोई कहेगा घोड़े की के मुंह वाला परमात्मा है तो अरे इतनी देर तक तो हमारी आंख के सामने घोड़े के मुंह वाला रहा तो हमको ईश्वर का ही दर्शन हुआ है ये जो ये जो विचारे ये जो अनविचारे संस्कार हैं कुछ मोहमूलक है हैं कुछ श्रद्धा मूलक हैं वो है और ये संस्कार जो हैं ये हमारे विवेक को अपने रंग में रंग देते हैं हमारी बुद्धि को हमारे चित्त को अपने रंग में रंग देते हैं हम ये भी नहीं समझ पाते कि असल में शुद्ध बुद्धि क्या होती है चित्त शुद्ध क्या होता है ये भी नहीं समझ पाते हैं इसलिए मनसई वेद माप्तव्यम मन का जो सार है उसको समझना पड़ेगा क्योंकि परमात्मा की अप्राप्ति कल्पित है इसलिए उस कल्पित अप्राप्ति को दूर करने के लिए कल्पित प्राप्ति की अपेक्षा होगी आपस में समसत्ता जिनकी लख साधक बाधकता तिनकी तो आचार्य आगम संस्कृत न मनसा वो निस्संस्कार मन से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती समाधि में परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी निस्संस्कार मन से अरे समाधि तो संस्कार डाल डाल के बनाई जाती है प्राणायाम करो प्रत्याहार करो वहाँ से खींच के मन को एक जगह बांधो धारणा लगाओ है ना एक चित्त में एक तान ताल लाओ ध्यान करो कही प्रज्ञात ये संप्रज्ञात हुई है ना ये वितर्क अनुगत हुई ये विचार अनुगत हुई ये आनंद अनुगत हुई अस्मिता अनुगत हुई ये सब क्या है कर ये सब मन की अवस्थाओं के बारे में संस्कार ही तो डाले गए हैं ना कहिए निर्विकल्प हुई ये निर्बीज हुई का बिल्कुल शुद्ध कैवल्य असम प्रज्ञात हो गई ये सब संस्कार के खेल हैं है ना हाँ, इन सब में से जब चित्त उठता है तो फिर वही पुराने खेल वही संस्कार खेलने लगता है इसलिए अद्वैत तत्व अद्वय तत्व शून्य नहीं है और अद्वय तत्व अशून्य भी नहीं है शून्य शून्य से विलक्षण शून्य शून्य से विलक्षण जो अद्वय तत्व है जिसकी अनुभूति का उल्लेख आत्मा और ब्रह्म की एकता के द्वारा ही किया जा सकता है जब आचार्य और उपनिषद इन दोनों के संस्कार से युक्त ये मन होगा तब मनसा इदम आपतव्यम कर रसम आपतव्यम आत्मैव नान्य दस्ती एक रस ब्रह्म देखो एक रस सपने आते हैं और जाते हैं और तुम एक रस रहते हो कि नहीं कब जवानी आई और चली गई पता ही नहीं लगता है वो बुढ़ापे में ऐसे ही समझते रहते हैं कि हम जवान ही हैं है ना हाँ बाल पक गए झुर्रिया पड़ गई लाठी लेके दूसरे का हाथ पकड़ के चलने की जरूरत पड़ती है और मन में समझते हैं कि हम जवान ही हैं जवानी सरक गई हाँ और कब सरक गई इसका पता नहीं लगा क्यों नहीं पता लगा कि तुम वही हो तुम वही हो इसीलिए इसीलिए पता नहीं लगा कि असल में वो तो जैसे कंधे पर रखा हुआ चदरा होए कब गिर गया कुछ ख्याल नहीं इसी प्रकार जवानी तो कंधे पर आरोपित एक चदरा तरीकी थी वो गिर गई और इसका पता नहीं लगा हमने देखा है महाराज साठ बरस की स्त्री को भी यदि बुढ़िया कह दी जाए कह दिया जाए तो मारने को तैयार हो जाए हाँ, हाँ। हमारे पंडित जी हैं उनकी उम्र अस्सी एक बरस की है वृंदावन में अब तो लेट गए हैं जरा है ना अब तो कहते हैं कि शरीर जो है लेकिन अभी से दो बरस पहले अगर उनसे कोई कह दे कि तुम बुढ़े हो गए पंडित जी तो तन जाते थे बोले हम हजार जवानों से अच्छे हैं है ना हाँ हाँ हाँ और वो आंख नचाते हैं महाराज है ना वो आंख नचाते हैं वो पलक नचाते हैं है ना हाँ, वो प्रेम के तीर मारते हैं अपने आंख से हाँ। <coughs> तो अस्सी बरस की उम्र है वो हाँ तो ब्रज में मशहूर है कि अस्सी बरस का बुढ़ा जो है ना तो वो तो घोटू तक काजल लगाता है तो जवानी सरक गई पता नहीं चला बचपन सरक गया पता नहीं चला है ना बुढ़ापा भी सरक रहा है पता नहीं चलता तुम ज्ञान स्वरूप हो ये सरकने वाली जो चीजें हैं है ना ये सचमुच सरकने वाली हैं अगर तुम इनसे सुखी होना चाहते हो कि हम अपनी जवानी को भोग के सुखी होंगे है ना नहीं अपनी जवानी को दूसरे का भोग बना के खुश सुखी होंगे तो बिल्कुल गलत समझते हो बना ये भर्तृहरि ने तो कहा कि भोगा न भुगता वयमे व भुगता हम समझते हैं जब रोटी खाते हैं तो समझते हैं कि हम रोटी को चकनाचूर कर रहे हैं चबा चबा के रोटी को कुचल कुचल के और खा रहे हैं और रोटी जो दांत को कुचलती है उसका पता नहीं लगता है बोला थोड़े दिनों में दांत गिर जाते हैं है? रोटी जीभ को कुचलती है रोटी गले को कुचलती है रोटी पेट को कुचलती है ना दृष्टि तो सर्वांगीण होती है ना भाई है? तो भोगान भुगता भय में वो भुगता भोग नहीं भोगे गए हम भोगे गए तपो न तपतम वहवे वो तपता जब पहले सफेद बाल आते हैं ना तो लोग छिपाते हैं उसको हाँ रोज निकाल देते हो कि किसी को पता न लग जाए कि सफेद बाल आ रहे ये छिपाने से क्या तुम्हारा बुढ़ापा रुक जाएगा अब जो आंख के है ना अब कपोल पर आंख पर जो है ना जुदी पड़ रही है वो कितनी चिक हाँ हमारे एक मशीन लाए हैं दादाजी वो मालिश करने की है ना तो कहते हैं इसको मुंह पर फिरावेंगे तो झुर्रिया नहीं पड़ेंगे तो <laughs> हमारे हाथ पर मालिश करने के लिए तो उसमें कई होते हैं तीन चार तरह के होते हैं तो कहते हैं कि <coughs> मन से ही वेद माफ कर दे ये देखो ज्ञान स्वरूप जो अपना है उसमें ये संस्कार डालो ये संस्कार डालो कि वस्तुएं बदलती हैं तुम नहीं बदलते स्थान बदलते हैं तुम नहीं बदलते हैं समय बदलता है तुम नहीं बदलते अवस्थाएं बदलती हैं तुम नहीं बदलते परिस्थितियां बदलती हैं तुम नहीं बदलते अपने एक रस ज्ञान स्वरूप को समझो और ये ज्ञान स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि सबका अधिष्ठान है ये ज्ञान स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि ये सर्वाभाषक है ये ज्ञान स्वरूप इतना सूक्ष्म है कि स्वयं प्रकाश है देश इसको आर पार वेद नहीं सकता काल इसको आर पार वेद नहीं सकता वस्तु इसको आर पार वेद नहीं सकती ऐसा ये ज्ञान स्वरूप तो आचार्य और उपनिषद इन दोनों के जो संस्कार हैं उनको बुद्धि में डालो अच्छा एक बात आपको ये कहें है ना वैसे तो आप लोग सब जानते हो पर कभी कभी कोई बात ध्यान में नहीं आते हैं कि जैसे रिजु बुद्धि कोमल बुद्धि वाले पुरुष को श्रद्धा कराई जाती है ना कि देखो भाई तुम्हारा मन तो बदलता रहता है जरा एक इष्ट में एक मंत्र में एक गुरु में अपने मन को साधो तो तुम पक्के हो जाओगे है ना <clears throat> ऐसे ये जो अभिमानी पुरुष होते हैं ना घोर अभिमानी जो होते हैं उनसे ये कहना पड़ता है कि देखो तुमको श्रद्धा करने की जरूरत नहीं है गुरु मत बनाओ बोला तुम कोई पोथी पन्ना भी मत मानो है ना तुम्हारी तो बुद्धि ऐसी है कि वो सत्य का साक्षात कर लेगी ये तुम्हारे अभिमान की संतुष्टि के लिए ये बात कही जाती है और जो अभिमानी आदमी है वे जब इस बात को सुनते हैं है, वैसे ये मार्ग सच्चा है ना तो क्यों इसने हमारे अभिमान को किसी के सामने वेद के सामने शास्त्र के सामने महात्मा के सामने हमारे अभिमान को झुकना नहीं पड़ेगा तो वो जो अभिमान की कठोरता है उसको तुष्ट करने के लिए ये बात कही जाती है हमारे एक मित्र थे बहुत सत्संगी थे उनके हो कोई हजारों सत्संगी थे तो कहते थे कि हम किसी को चीला नहीं बनाते हैं तो उन्होंने पूछा मंत्र आप लोगों को मंत्र तो बताते हो बोले हाँ मंत्र तो बताते हैं कब तो देवता बताते हो इष्ट देवता बताते हो कहा बताते हैं कब तो पूजा की पद्धति बताते हो हाँ, हाँ। तो कहा तो चीरा नहीं बना बनाते हो इसका क्या मतलब हुआ तो बोले हम मित्र की हैसियत से बताते हैं हम गुरु की हैसियत से नहीं बताते हैं और वो मित्र जो है वो सब संतुष्ट रहते थे कि ये हमें देखो ये हमारे है ना महात्मा किसी के गुरु नहीं बनते हैं सबके मित्र बनते हैं कितने अच्छे हैं है ना और मित्र बन के मुड़ लिया कि नहीं मुड़ लिया आप ये बताओ है? ये बताओ है? कि मित्र बन के जब मंत्र बताया इष्ट बताया ध्यान की पद्धति बताई जीवन भर की निष्ठा बताई है? तो वो गुरु से भी ज्यादा मजबूत हाथ मित्र का हुआ कि नहीं हुआ नाम ही न बदला केवल नाम बदला बात तो वही रही बोले देखो तुम श्रद्धा मत करो हमारे ऊपर श्रद्धा मत करो कोसी पर भी श्रद्धा मत करो है ना हम एक बात तुमको ऐसी बताते हैं तुम स्वयं विवेक करो कि तुम कौन हो हाँ। अब तुमको गुरु बनाने की जरूरत नहीं है तो ये लोग है ना असल में जो नासमझ होते हैं और अभिमानी होते हैं है ना वो समझते तो है नहीं कि हम कहा फंसे वो अश्रद्धा के नाम पर कोई श्रद्धा के नाम पर फंसता है पुराने लोग श्रद्धा के नाम पर फंसते हैं और नए लोग अश्रद्धा के नाम पर फंसते हैं लेकिन अभिमान ही काम कर रहा है बिल्कुल सुलह वाले तो ये जो नासमझी की बातें हैं इनको छोड़ना चाहिए और आचार और उपनिषद के द्वारा डाला हुआ जो संस्कार है मन में उसको धारण करना चाहिए और देखना चाहिए कि देश काल वस्तु के बदलते रहने पर भी हैं देखो मूसा के जमाने में मोहम्मद का संप्रदाय कहाँ था ईसा के समय में भी तो नहीं था मूसा के समय में ईसा नहीं थे ईसा के समय में मोहम्मद नहीं थे है ना बुद्ध के समय में है ना ईसा मूसा नहीं थे हाँ, हाँ, महावीर के समय में बुद्ध नहीं थे ऐसे हो है ना हाँ, सतयुग की आदि में सतयुग की आदि में केवल ब्रह्मय आचार्य थे ब्रह्मय आचार्य थे और कल्प की आदि में केवल विष्णु ही आचार्य थे अब महाप्रलय की आदि में केवल शंकर ही जगत गुरु थे नारायण तो आचार और आगम उपनिषद के संस्कार से संस्कृत हो करके बदलने दो सृष्टि को बदलती हुई सृष्टि के साक्षी तुम हो और ये साक्षी इतना सूक्ष्म इतना सूक्ष्मतर इतना सूक्ष्मतम है कि ये देश काल वस्तु का अधिष्ठान इनका अवभाषक स्वयं प्रकाश है सीताराम और ये किसी से खंडित नहीं होता अखंड है कोई इसके सामने बराबरी का आकर के नहीं दिखता ये अद्वितीय है है ना कभी इसका विनाश नहीं होता ये अविनाशी है कहीं इसकी अब का अभाव नहीं है ये परिपूर्ण है यही तुम्हारा साक्षी यही तुम्हारा एक रस ज्ञान नेय नाना किंचन एक कोई तो अनाथ बालक होए है ना छोटा मोटा होए घर में माँ नहीं बाप नहीं चाचा नहीं ताऊ नहीं एक बुढ़ा आया उसके पास है ना बोले बेटा तुम हमारे साथ चलो बोले हम कैसे तुम्हारे साथ कैसे चले भाई तुम होते कौन हो बोले हम तुम्हारे नाना हैं वो नाना नहीं था वो ठग था अब बच्चे ने कहा हमने तो अपने नाना को कभी देखा ही नहीं बोले देखा नहीं तो क्या तुम्हारी माँ का खास बात नहीं है ना अब तुम चल दो हमारे घर तक चले गया तो जैसे नाना जो है झूठे ही नाना बन के झूठे ही नाना बन के हैं और बच्चे को ठग ले ऐसे ये झूठा नाना जो है ये नाना तो जो है ना नाना बना ये अनेकता जो है ये झूठी नानी झूठा नाना है ना ये झूठे ही नाना अविवेकी रूप बालक को ठग रहा है बोला ये अविवेकी बालक है और ये इस नाना झूठे नाना के हाथ में ठगे जा सच्चा नाना नहीं है नया हाँ, नाना से किंचना अरे बेटा तुम्हारे तो नाना कोई था ही नहीं है ना गांव में है ना गुरु मिले पुरोहित मिले बेटा किसके साथ जा रहे नाना के साथ जा रहे अरे तुम्हारे तो नाना कोई है ही नहीं वो तो मर चुका है कब का ये कोई झूठा ठग आया है तुमको नाना बन करके तुमको ले जाना चाहता है अपने साथ ये नाना नहीं है हाँ। तो मनसई वेदमाप्तव्यम नेह नानास्ति किंचना मृत्यो समृत्युम गच्छति तो प्रत्युपस्थापिका अविद्या है शंकराचार्य भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारे सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है अगर कोई दूसरी चीज बनती है तो तुम्हारी बेवकूफी से बनती है और वो अविद्या जब निवृत्त हो जाए तो तुम्हारे पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप में अणुमात्र भी नानात्व तो नहीं है और जो इस बात को नाना को छोड़ने को तैयार नहीं है नाना में ही फंस गया क्योंकि नाना खाने को देता है गुड़ देता है जीव के लिए गुड़ देता है नाक के लिए इतर देता है है ना हाँ। आंख के लिए रंगीनी देता है कान के लिए संगीत देता है त्वचा के लिए स्पर्श देता है ये नाना महाराज लुभाने में तो बड़ा निपुण है ये नाना जो है तो अविद्या तिम्र दृष्टि न मुंचती अब यही बेवकूफी समा गई कि ये नाना ही है तो इसका फल क्या होगा कि ये जाके मृत्यु समृत्युम गच्छती जय हो नाने वो पश्यती मृत्यु मृत्यु बार बार तुमको बस ऐसे कठोर मार्ग में ये ले जाएगा कि ऐसा मालूम पड़े कि अब मरे अब मरे अब मरे मृत्यु का नानात्व का जो अध्यारोप करेगा भेद का जो अध्यारोप करेगा उसको मृत्यु का भी अध्यारोप करना पड़ेगा जिसके ऊपर हथौड़ा लगेगा वो फूटेगा जरूर जिसके ऊपर तलवार लगेगी वो कटेगा जरूर है ना तो ये नाना तो जो है ये तलवार है ये हथौड़ा है ये बारंबार चोट मारती है और ये महाराज ये महात्मा लोग तो ऐसे पक्के यहाँ यो भी वाह वाह है तो यहाँ यो भी वाह वाह है है ना ऐसे भी मजा है और वैसे भी मजा है एक के घर गए महाराज है ना तो मूंग की दाल और रूखी रोटी ला के सामने रख दिया खाने को बोले आह देखो ना कितना सद्भाव है इसके मन में कि हमारे स्वास्थ्य के लिए कि स्वास्थ्य अच्छा रहे कैसा स्वास्थ्य है ना कैसा सादा भोजन दिया इससे तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा है और ये हमको विरक्त समझता है जब्बा लोलुप नहीं समझता खुशी हुई हो कि मूंग की दाल हाँ, दावतों में दावत दावते सिराज तो नारायण बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब दूसरे के घर गए महाराज हैं तो खीर पूरी बड़ा हलवा सब आया सामने देखो भाई कितने प्रेम से बनाया है इतनी चीजें बनाया है खिलाने के लिए दोनों में खुशी हुई है ना और एक जन थे अब समझो वैसे ही थे वो भी अब वो सादा भोजन है तो बोले राम राम राम राम है ना इतने दरिद्र हो तुम कंजूस हो रोटी दाल बना खिलाए हो सामने मूर्ख है भाई अब दुखी हो गए नाराज हो गए बोले मैं तो महाराज समझता था कि आपको सादा भोजन पसंद आवेगा विरक्त हो महात्मा हो विरक्त महात्मा की क्या जीव नहीं होती क्या मन नहीं होता क्या <laughs> वो महाराज चार गाली सुना हाँ। तो हलवा पूरी वाले के घर गए तो बोले अरे तुम हमको लोलुक समझते हो तुम हमको चटोरा समझते हो हमारे लिए इतनी चीज लाख दोनों जगह दुख पैदा कर तो ये मनुष्य का अंतकरण जो है ना अगर सुख बनाना चाहे तो सब जगह सुख बना ले और ये दुख बनाना चाहे तो सब जगह दुख बना ले है ना वो दुनिया की घटनाओं में कुछ नहीं होता वो मनुष्य के अंतकरण में जो भीतर भरा होता है वो हर निमित्त पर जाहिर हो जाता है भीतर दुख भरा है तो सब जगह दुख भवक उठेगा और भीतर सुख भरा है तो सब जगह सुख भवक उठेगा बाहर कुछ नहीं रहता मनुष्य अपनी प्रकृति को ही प्रकट करता है कि वो दुख लिए हुए है कि सुख लिए हुए है अच्छा अब कल परसों और